निर्वाणिरोयुषन्ता सर्वन्त्रामयुतामुपस्ते यूयम् भारतस्तिभिस्तदाना व्याख्या हे भगवान अर्जुन इंद्र सूर्य वरुण चंद्रमा मित्र वायु अग्नि अग्नि आप जल औषधि वृक्षाणी वनस्पत सब पदार्थ आपकी आज्ञा से सुमिर होकर हमारा सेवन करेंगे रक्षक मरदाब बस्ते पवन के गोद में बैठे हुए हम आपकी कृपा से समझ जावा सुगरित सता रहे रहे स्वस्थ भी सब प्रकार के रक्षण से यूयम पादा आज रात आप हमारी रक्षा करो किसी प्रकार से हमारी हानि ना हो पदार्थ equal to two-thirds equation अनुभव समझने का प्रयास कारक हों ऐसी ईश्वर से प्रार्थना की है इसका अभिप्राय है कि हम पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आदि औषधियों से ऐसा प्रयोग करें कि जिससे हमारा कल्याण हो इसका अभिप्राय है इसका यह अभिप्राय नहीं होता कि ईश्वर औषधियों को बताएगा फिर वो बनाएगा और हमको कोई प्रिया उड़िया देगा और तब हमारा कल्याण विशुद्ध वैदिक ईश्वर को न समझने के कारण लोग ईश्वर के विषय में कैसा सोचते हैं अवैज्ञानिक ढंग से सोचते हैं उसका परिणाम यह हो, हो जाता है कि उनका ईश्वर से संबंध नहीं जुड़ पाता अब इन बातों का ईश्वर से संबंध कैसे होता है यह होता है हम देखते हैं पृथ्वी जलवायु आकाश की रचना फिर हम आयुर्वेद को देखते हैं ऋषियों ने जो आयुर्वेद की रचना की औषधियों का उसको पढ़ेंगे हम उसका अध्ययन के पश्चात औषधियों का निर्माण करेंगे हम और उस समय हम इनका कामों को करते हुए ईश्वर की प्रार्थना उपासना करते रहेंगे हम और जब आप परिश्रम करेंगे तो परमात्मा हमको ज्ञान की सहायता देता अंतर्यामी रूप से और वो सहायता मिलेगी हम ऐसा करने से यदि हम ईश्वर को साथ नहीं जोड़ते उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना नहीं करते वो सहायता हमको नहीं मिलती पता नहीं कैसी है हम गए पुष्कर में शताब्दी मनाई गई थी तो देखते देखते देखते देखते चल रहे थे और वहां एक ब्रह्मा का मंदिर है ऐसा कुछ सुनते हैं कि शायद वो एक ही मंदिर हो या एक दूसरा भी ब्रह्मा का मंदिर इस नाम से शताब्दी के कारण हो सकता है एक पंडित अथवा पंडा आर्य समाजियों के लिए निश्चित किया गया होगा ऐसी अब नहीं मिला अब भी गए क्या तो हम जानना चाहते थे महर्षि धान सरस्वती जी कितने किस समय में यहां आए उन्होंने कब यहां पर कुछ काम किया सत्यार्थ प्रकाश आदि लिखा वेद भाष्य किया कोई घटना कोई बताने वाला हो तो बताओ तो बड़ी रोचक बात है कहने लगे देखिए जी बात यह है जो आर्य समाजियों का जो पंडा है वो उसको बता सकता तो मुझे पता चला कि आर्य समाजियों का भी कोई पंडा होता है वहां पंडों के वर्ग में ऐसा निर्वाचन होता रहता है कि अमुक अमुक प्रांत अमुक अमुक क्षेत्र का अमुक व्यक्ति पंडा रहेगा और दान दक्षिणा वही देगा नहीं तो झगड़ा हो जाएगा दूर दूर के तक के पीढ़ियों के बही खाते होते हैं और उन व्यक्तियों का याद नहीं होता मेरे दादा परदादा क्या कुछ पूछते वो बताएंगे जगह से तो हमने पूछा आपको आयुष्मान के विषय में क्या जानकारी है कहने लगे बात ऐसी है जैसा वो सुनाया वैसे लगभग भाव सुनाता हूं यहां दो कोठड़ियां होती और महर्षि दान सरस्वती जी उन दोनों में बैठते थे और क्या करते थे वो कुछ लिखते थे सत्यान प्रकाश लिखते होंगे या वेद भाष्य करते होंगे दो कोठड़ियों में उसको देखा जाता था कि वो कई बार लिखते लिखते झट बंद कर देते थे और वो झट दूसरी कोठरी में चले जाते थे और क्या करते थे वो समाधि लगाते थे वहां जाकर के और कालांतर में समाधि के पश्चात उठ करके फिर आते थे और फिर लिखना आरंभ कर देते थे तो क्या अभिप्राय है कि वो जो मंत्र का करते करते वो अटक जाते थे उलझ जाते थे जहां पर उसको प्रतीत नहीं होता था भगवान से प्रार्थना करते थे समाधि लगाते थे और वहां से पूछ करके और समाधान करके फिर दूसरी उसको आगे लिखना शुरू करते मैं आपसे पूछू आप उत्तर दें क्या माता पिता और आचार्य के समान परमात्मा क्या पढ़ाता है क्या हाँ जी पढ़ाता हम्म? नहीं बोल के नहीं पढ़ा था यो कहिए ज्ञान देता है क्या कैसे देता है कोई लौकिक दृष्टांत देती है अच्छा कभी बहुत रोगी होने पर बीमार होने पर रोगी को औषधि कैसे देते इंट्रावेनस नस में क्या बोलते हैं आप इंट्रावेनस हम्म? नस में इंट्रावेनस दूसरा में क्या होता है ग्लूकोज ग्लूकोज चढ़ाते हैं ना सलाइन और व्यक्ति को कोई पता नहीं चले और शरीर में शक्ति चली जाए और पूरा काम करती है जैसे ग्लूकोज चढ़ा देते हैं ना भगवान ऐसे ज्ञान विज्ञान जीवात्मा चढ़ा देता है अब अब नहीं लगता वो भी आप नहीं आपका काम अच्छा ये आपने सुना है हम भी सुनाते हैं ईश्वर हमको आनंद देता है वो कैसे देता कच्ची से थोड़ा ही देता <laughs> वो आनंद आप सब सुनते हैं और उपनीत कानून लिखा है रसो है वही सह रस है वही सह वो ईश्वर आनंद स्वरूप है कार कहता है रस रस का अर्थ ये नहीं कि गुलाब जामुन का आम का रस नहीं रस है वही स परमात्मा आनंद स्वरूप है रसम ही अयम लब्धवा आनंदी भवती उस आनंद को प्राप्त करके जीवात्मा आनंदी हो जाता है उसमें भी यही प्रक्रिया रहेगी अंतर्यामी रूप से ग्लूकोज की तरह परमात्मा आनंद देता कड़थी और कोई बटलोई और कोई कुछ नहीं होता आपने क्या पढ़ा था अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वव्यापक सर्वव्यापक और सर्वंतर्यामी ये क्या बात है सर्वे का अर्थ है सब सब और अमितय का अर्थ है अंदर और यामी का अर्थ है नियंत्रित रखने वाला अंदर रह के नियंत्रण करता व्यक्ति बाहर से नियंत्रण करता है और परमात्मा अंदर से नियंत्रण कर तो ये आनंद भी ऐसे ही दिया जाता है ईश्वर के द्वारा और ज्ञान भी ऐसे दिया जाता है ईश्वर के द्वारा कई बार जो लोग ईश्वर को सर्वव्यापक नहीं मानते वो शंका उठाते क्या कि भाई भगवान तो सर्वव्यापक है आनंद भी है परंतु सभी लोग आनंदी क्यों नहीं हो जाते दृष्टांत दिया जाता है एक कमरे में आग जलाओ पट्ठा जलाओ लकड़ का आग लगाओ आप बताओ कमरा पूर्ण रूपे रूपेण उष्ण गर्म हो जाएगा नहीं अग्नि व्यापक है और उष्णता भी और जो कमरे में जाएगा उसको उपलब्ध उष्णता होगी ये ठीक है यदि परमात्मा आनंद स्वरूप है अग्नि की तरह भरा हुआ है तो रोगी बूढ़ा बालक और बूढ़िया सारे के सारे सन्यासी और गृहस्थी आनंदी हो जाने चाहिए थे क्यों नहीं होते हाँ हाँ सुनो उन्होंने उत्तर दिया वो बार बार समझते सीखते हैं आनंद ईश्वर से अधिकार सुना नहीं घूम रहा उसके अनुरूप जिसके ज्ञान कर्म उपासना है उसको ईश्वर देता है और जिसके ध्यान कर्म उपासना तदनुरूप नहीं है उसको नहीं देता नहीं देता ये प्रश्न को उभर के आता है प्राय ब्रह्मा कुमारी उभारती और यदि आप उत्तर नहीं दे पाते तो आप चुप रहना पड़ेगा तो समझ रहे अंतर्यामी अंदर रह की सभी चीजों में नियंत्रण है ईश्वर अनंत ज्ञान का भंडार है अनंत विज्ञान है तो हम विद्वान क्यों नहीं बन जाते बैठे बैठे वहां पर भी यही बात विद्वान क्यों नहीं बन जाते हम बैठे सारे विद्वान हो जाने चाहिए थे ज्ञान ईश्वर के अधिकार ज्ञान ईश्वर के अधिकार में अंतर्यामी रूप से जो जितना करता है उतना देता है नहीं तो नहीं देता अग्नि का दृष्टांत गलत है वो तो उष्णता है गर्मी है सुनी घूम रही है वो कोई चेतन करता थोड़ा ही को ईश्वर की मानते जानते आयुर्वेद को पढ़ते जब इसका प्रयोग करते जैसे भौतिक वैज्ञानिक आजकल कितने विज्ञान की खोज करते और उससे लाभ उठाते ये विज्ञान की देन है जो आप कर रहे वो जो चीज है उनको हम जानते हैं परिश्रम करते हैं और फिर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उसका ये भी संबंध जुड़ा हुआ रहता है हम जो कुछ धन कमाते संपत्ति कमाते खाते पीते कोई गलत चीज तो नहीं खाते पीते हम हाँ। ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध तो नहीं कमाई करते हम वो जब चीजों का विकास हम करते चले जाते हैं तो ईश्वर को साथ जोड़ के रखते तो बुराई से व्यक्ति बचता चला जाता है और जो बुराई से बचता चला जाता है वो इन चीजों को जान करके लाभ उठाता हुआ आनंदित होता है इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना की जाती है एक बात और कही कि प्राणा नाम उपस्थित है प्राणों की गोद में हम बैठे हुए हम इस शरीर में उपस्थित हैं इस शरीर में प्राण काम करते हैं प्राण अपान और फिर उनके तश भेद हो जाते हैं तो हमें इन प्राणों से कैसे अपने जीवन की रक्षा कर सकें प्राणायाम के माध्यम से कैसे लाभ उठा सकें वायु के अशुद्ध होने पर विकृत होने पर दोष आने पर कितने रोग पैदा होते हैं आयुर्वेद का वाक्य है लगभग क्या है सर्वेशम रोगाणाम वायु कारणम सीधा अर्थ सर्वेशम रोगाणाम वायु कारणम सर्वेशा रोगाणाम बीमारी नाम है वायु कारणम अस्ति सर्वेशावर रूपाना इतने रोगों का कारण है हमने सुना और समझने का प्रयास किया एलोपैथिक वाले डॉक्टरों के पास जाके समझने वो कहते वायु नाम का कोई वायु से उत्पन्न होने वाला कोई रोग दुनिया में है ही वायु से कोई रोग पैदा नहीं होता इनका ज्ञान विज्ञान नहीं होने से ऐसा होता प्राय वायु के रोगों को एलोपैथिक वाले डॉक्टर अच्छा कर ही नहीं पाते इसलिए ऋषियों ने कहा प्राणमय कोश अन्नमय कोश विज्ञानमय कोश आनंदमय कोश और बच गया मनोमय कोश मनोमय कोश इन कोशों से जीवात्मा व्यापार करता है ज्ञान कर्म उपासना करता है हम इनके मध्य में उपस्थित हैं हे ईश्वर आपके ज्ञान विज्ञान की सहायता से हम इन पांचों कोषों से ठीक लाभ उठाएं उपयोग करें और हम आनंद प्राप्त इन्हीं के मध्य में बैठ के हम समाधि लगाते हैं यदि प्राण ठीक काम नहीं करे इसी प्रकार से तो हम कुछ नहीं कर सकते इसलिए प्रार्थना का अभिप्राय और इन वस्तुओं से हम कैसे लाभ उठाएं ये जो है जानने की बात ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया प्राण कैसे गति करते हैं आश्चर्य की बात है हमारा ज्ञान नाम मात्र का है आंशिक क्षेत्र है इसलिए हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं ईश्वर के गुणों को ग्रहण करना चाहते हैं प्रार्थना करते हैं मिथ्या भर के नहीं आ जावे उसको हम ईश्वर की जब प्रार्थना करते रहते तो मिथ्या भर के नहीं आता कभी धन का और कभी ज्ञान का कभी योग का कभी बल का पता नहीं प्राय कोई न कोई अभिमान को भरा रहता व्यक्ति यदि वह ईश्वर को साथ जोड़े रहता है तो यह मिथ्याभिमान उभर के नहीं आता मिथ्याभिमान उभर के नहीं आने से लौकिक स्तर पर व्यक्ति बहुत अच्छा व्यवहार करता है और परमात्मा के साथ वह आबद्ध संबद्ध हो जाता नहीं तो नहीं हो सकता तो इस प्रकार से ईश्वर की प्रार्थना और इन भौतिक चीजों से हमें लाभ उठाना चाहिए ओम शांति